आपके समक्ष एक प्रसंग है कि ईश्वर के और हमारे जीवों के कौन कौन से संबंध हैं उन संबंधों को जानना उन संबंधों में जो त्रुटि दोष हैं उनको दूर करना उन संबंधों को उचित रूप देने पर उचित रूप में प्रयोग करने पर हम ईश्वर से अपना संबंध है स्थापित करते हैं तो परिणाम ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान आनंद बल वह हमको विशेष रूप से उपलब्ध होता है इन संबंधों को जो नहीं जानते नहीं सुधारते और उचित व्यवहार ईश्वर से नहीं करते उनको वह ज्ञान वह आनंद वह बल नहीं मिलता उदाहरण के रूप में आपने पढ़ा है सुना है पढ़ाया है या जो भी आपने ये देखा कि ईश्वर प्रणिधानात व ईश्वर प्रणिधानात व आदि प्रसंगों में ये बात स्पष्ट है कि तम योगी नम गृहती अभिधान मात्रे में क्या समझ में आया ईश्वर प्रणिधानात वाह ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषा आगे क्या है तम योगिनम अभी अभिध्यान मात्र है तो इसका क्या अर्थ है आप बताएं ईश्वर उस योगी को संकल्प मात्र से अपनी शरण में ले लेता है उसकी विशेष सहायता करता है अब इस प्रकार की सहायता इस रूप में ईश्वर परिधान न करने वाले को ईश्वर नहीं देता इससे यह सिद्ध हुआ समझ में आ गया नहीं आया हुँ? हम्म? क्या आप ईश्वर प्रणी दान इस रूप में करेंगे तो तो आपको ये ज्ञान या आनंद या समाधि की दी नहीं करवाएगा ईश्वर जब करवाएगा तो आपसे कोई पूछे क्यों नहीं कर रहे आप तो क्या उत्तर देंगे आप आपने ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध हैं और ईश्वर के जो आदेश हैं उनको सम, नहीं समझा उनको समझा है तो आचरण में नहीं लाए आप या और कोई कारण है यही तो है विचारक व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति ये देखता है कि हम ऐसा पढ़ते हैं ऐसा पढ़ाते हैं कि ईश्वर उस उपासक को ये ये संपत्ति देता है यदि देता है तो मान के चलिए तो मैं क्यों नहीं ले लेता वो ऐसा सोचता है कौन कौन सी बाधाएं हैं जो मुझे रोक रही है बाहर की बाधाएं समाज की परस्पर के व्यवहार की अथवा मैं स्वयं बाधक हूं ये गवेषणा करता है वो जैसे कोई देखता है हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं मन एक जड़ पदार्थ है पढ़ते हैं पढ़ाते हो गया अब वो कभी भी आत्मनिरीक्षण परीक्षण के साथ न देखे कि मन जड़ पदार्थ है तो विषयों में क्यों जाता दिख रहा है ये मन नहीं चाहता तो विषयों को उपस्थित क्यों कर देता है ये ये अशुभ कर्मों में क्यों लग जाता है या लगा देता है ये वो ये देखता है यदि ऐसे प्रयोग नहीं करता व्यक्ति परीक्षण निरीक्षण तो उसको आज से पचास वर्ष के पीछे भी मन जड़ है यह समझ में नहीं आएगा आत्मनिरीक्षण परीक्षण करना सीखना चाहिए और ये एक बार सायकाल आप आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम करते हैं ये प्रशिक्षण है आपको बतला दिया कि ऐसे सोचो ऐसे आत्मनिरीक्षण करो उसका अर्थ ये नहीं होता कि उस समय कर लो फिर पूरे काल में कोई आत्मनिरीक्षण परीक्षण नहीं चले उसका यह अर्थ नहीं होता आत्मनिरीक्षण परीक्षण व्यक्ति का जब तक उसको नींद न आए या स्वप्न अवस्था में नहीं चला जाए तब तक उसका मन वाणी शरीर से जो कुछ क्रियाएं होती हैं सोचता है मानता है किसी को दूर करता है किसी को ग्रहण करता है वो आत्मनिरीक्षण के साथ चलता रहता है जिस क्षण में वो ईश्वर की उपासना छोड़ता है तत्काल आत्मनिरीक्षण से पता चलता है कि ईश्वर की उपासना छूट गई है तत्काल पता चलता है आपने ये भी पढ़ा होगा पढ़ाया या पढ़ा होगा कुछ जैसे कि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न भवना श्रुते न पढ़ा या नहीं पढ़ा पढ़ा होगा यद्यपि प्रवचन पढ़ाना औरों को विद्या देना ये बहुत उत्तम कार्य है पर इसका निषेध नहीं है तुलना आत्मक रूप से दोनों की विशेषता अपनी अपनी जो है उनमें विभाजन किया जा रहा है कि ये विद्या पढ़ते रहो ब्रह्म विद्या आत्मा परमात्मा की विद्या लंबे काल तक पढ़ते रहो एक बात बुद्धि मेधा बुद्धि बनानी चाहिए खंडन नहीं है उसका बहुत सुनो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो तीन बातें कही इतना करने पर भी यदि वो ईश्वर धान की स्थिति में नहीं जाता इन संबंधों को नहीं सुधारता उसी रूप में उसकी आज्ञा का पालन उसी रूप में उसे संबद्ध होना यदि नहीं करता तो अयम आत्मा ये ईश्वर जो है जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता ये बताना उसमें नियम यमेव वृणु थे ये नियम है क्या समझे आप हम्म? क्या समझ में आया किसी ने पढ़ा होगा सुना होगा तो उसको याद होगा कुछ तो होगा या नहीं यम एवं ऐसा विरणुते इसका क्या अर्थ करेंगे आप चुन लेता है हाँ। उसी को साक्षात्कार कराता है ऐसा कुछ आपने ये पढ़ा सुना ऋषियों के वाक्य हैं यदि आप शत शत इनको सत्य मानते हैं तो तद अनुरूप कार्य क्यों नहीं करते यदि नहीं मानते हैं तो आप ये क्यों इस रूप में क्यों रहते कि मैं ऋषियों की बात को मानता हूं समझता हूं उनकी बातों को प्रामाणिक मानता हूं ऐसा क्यों सोचते आपके समक्ष समस्या तो आती ही होगी क्या नहीं आती कि इस प्रकार का ईश्वर इतना बल इतना ज्ञान इतना आनंद इतनी क्रियाएं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कोई सारे संसार के जीवात्मा भी कोई कल्पना से नहीं समझ सकते तो मन में संशय होता होगा <laughs> या भ्रांति भी हो जाती होगी कि क्या करूं मैं ऐसे ईश्वर को मानूं या नहीं मानूं होती या नहीं होती समस्या खड़ी हाँ जान जी कैसा लगता है है जी होती है नहीं ऐसी समस्या यार है अथवा आप इसमें विचार ही नहीं करते कोई महत्व ही नहीं देते कि ऐसा सोचो अर्थात ईश्वर का अंतिम स्वरूप शत प्रतिशत स्वीकार हो जावे ऐसी स्थिति में पहुंचो ऐसा सोचते भी हो या नहीं कभी आप सत्यग्राही व्यक्ति कैसी स्थिति में जाना चाहता है वो जिस बात को लेता है वो ऐसी स्थिति में जाना चाहता है ये प्रमाणों से शत प्रतिशत सत्य हो जाना चाहिए और मैं उसको स्वीकार करूं ऐसा वो सोचता है परिश्रम न करने वाला जो तपस्वी नहीं है त्यागी नहीं है सत्यग्राही नहीं है वो ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहता जितना आ गया उतना आ गया आधा आया चौथाई आया संशय है तो संशय पड़ा रहेगा भ्रांति है तो भ्रांति पड़ी रहेगी ऐसे लोगों के बस की बात नहीं ऐसे संशय उनका नहीं उठेंगे उसको उठाएंगे भी नहीं अवश्य की नहीं समझ रहे आप भी ऐसे होंगे कुछ अंशों में या नहीं आप क्या अनुभव करते हैं आप अंतिम रूप देना चाहेंगे आप ईश्वर के विषय में कि ईश्वर ऐसा ही है कोई संदेह नहीं है भ्रांति भी नहीं है निर्णयात्मक है उसके लिए जो परिश्रम करना पड़ेगा आपको त्याग करना पड़ेगा आपको विचारना पड़ेगा आपको वो कितना अधिक परिश्रम साध्य है परंतु इस पाठ को भी सदा जोड़ते रहना जहां ये कहा जाता है कितना कठिन है कितना परिश्रम साध्य है कितना काल चाहिए कितना त्याग चाहिए उसके साथ ये भी आप सदा आबद्ध करते रहना ये कोई असंभव बातें नहीं क्या करोगे आप सब संभव है क्या करेंगे आप जहां इतना कठिन इतना सूक्ष्म इतना परिश्रम साध्य ईश्वर प्राप्ति को कहा जा रहा है तो ये भी बात याद रख लेना कि ये सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं सब संभव है इस संतुलित विचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति जब योग की स्थिति में जाएगा स्मरण रखना प्राय आप सुनते हैं उस व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान चाहिए उस व्यक्ति के लिए निष्काम कर्म शुद्ध निष्काम कर्म भी अनिवार्य होगा उस व्यक्ति के लिए उपासना भी विधि पूर्वक अनिवार्य होगी आप ये माने कि पढ़ना लिखना और पढ़ा देना और फिर और आगे बढ़ जाइए और निष्काम कर्म सेवा जो भी करते हैं तन मन धन से वो आप नहीं करते मान के चलिए तो आप योग की स्थिति में नहीं जा सकते सकाम कर्म करेंगे तब भी नहीं जा सकेंगे शुभ कर्म सकाम कर्म करो आपको यश मिलेगा धन मिलेगा ये उपलब्ध हो जाएंगे लौकिक फल इसमें कोई बाधा नहीं है धन भी संपत्ति भी मान मिल जाएगा आपको परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी कहना सरल है और इसको करके दिखाना या देखना अत्यंत परिश्रम साध्य है परंतु फिर क्या छोड़ोगे असंभव है नहीं है इसको सब जगह लागू कर लेना क्योंकि जो व्यक्ति ये लक्ष्य ये कार्य कितना परिश्रम कितना ज्ञान कितना काल साध्य है उसको जो नहीं जानता वो तद अनुरूप पुरुषार्थ नहीं कर सकता याद रखना या उसको वो इतना सरल मान बैठा हो थोड़ी से पुरुषार्थ से सिद्ध हो जाएगा वो बैठा रहे पचास वर्ष करता रहे इतने परिश्रम से वो साध्य ही नहीं है जितना उसने दिमाग बनाया है वो साध्य नहीं है इसलिए उसको ये ये भी बनाना चाहिए कि इतने परिश्रम इतना काल इतना त्याग इसके लिए चाहिए तो एक व्यक्ति शंका करते थे कि भाई इतना कठिन बताया जा रहा है वैदिक योग को इतना कठिन बताया कि व्यक्ति घबरा जाता है और उसको इस रूप में बताना ही नहीं चाहिए इतना कठिन है इतना कठिन है उसको ये बताया ही नहीं जाए सरल कहते चले जाओ सरल कहते चले जाओ यद्यपि दोनों बातें चाहिए दोनों ही बातें उसको बतानी चाहिए एक पद्धति विधि सरल से सरल बना देनी चाहिए जितनी सरल हो सकती है एक उसमें सिद्धांत के विरुद्ध इन बातों का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए विधि में इन लोगों की सरल पद्धतियां सुनी होंगी मत मतांतरों की आपने सुनी होंगी ये जितने भी नाम सुनते हैं सरल सरल तम इतनी सरल बनाते हैं कि आकर्षण उत्पन्न करती है उनकी विधि और वो हजारों लोगों को अपने साथ आबद्ध कर लेते हैं इतना सरल बनाते हैं ये लोग अपनी विधियों को जप की विधि ध्यान की विधि आदि आदि इतना सरल बनाते हैं बना दिया सरल सरल बना दिया उस सरल बनाने पर कहां पर पहुंचे देखना तो ये भी तो चाहिए सरल तो बना दिया आकर्षण भी हो गया हम भी ये मानते हैं हमको भी ऐसी सरलतम विधि रखनी चाहिए लोग अधिक से अधिक आबद्ध हो जाएं हम इसमें मतभेद नहीं रखते पर उसके साथ ऐसी बातें जोड़ो ऐसे सिद्धांत जोड़ो या ऐसी अधकतरी बातें जोड़ दो वो सरल तो दिखने लग गया समय भी लगाने लग गए लोग पर जिस लक्ष्य पर पहुंचना था वो तो सिद्ध हुआ नहीं और न उसके अनुयायी उसको सिद्ध कर पाएंगे जो शिक्षा देने वाला है ये तो हुआ क्या लाभ हुआ बहुत सी चर्चा इस रूप में आजकल रहती है जब ये चर्चा आगे बढ़ती है और बुद्धिमान तर्क करता रहता है कि इतने लोग आकृष्ट होते हैं लाखों लोग उनके प्रशिक्षण में भाग लेते हैं और बड़ी भारी विचित्र पद्धति है उनकी अच्छा तो उसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए वो सरलतम विधि दिख रही है आपको सारे लोग आकृष्ट हैं उससे आबद्ध हो रहे आप ये बताइए उस पद्धति में सिखाने और सीखने वाला कभी ईश्वर साक्षात्कार पर पहुंच जाएगा बुद्धिमान कहता कि ऐसा तो नहीं आप पहुंच जाता हो तो बताइए ये पहुंचता ही नहीं ये सामान्य स्तर का लाभ है अपने साथ आबद्ध कर लेना और कोई लौकिक प्रयोजन सिद्ध कर लेना उन लोगों से और अपनी बातें मनवा देना कुछ मोटे रूप में वो भी एक अच्छा अंश है मोटे रूप में मनवा देना भी एक अच्छा अंश मानते मोटे रूप में अच्छी अच्छी बात बता दी पर अंतिम रूप को ना तो वो ठीक समझ के चल रहा है सिखाने वाला ना अंतिम स्वरूप उनको ले जाने की स्थिति है उसकी तो उससे फिर क्या हुआ अंतिम परिणाम ये हुए उनमें से कोई आदर्श व्यक्ति नहीं न सिखाने वाला आदर्श है न सीखने वाले आदर्श है न आदर्श को वह पहुंच पाएंगे तो साधारण व्यक्ति के लिए ठीक है थोड़ा सा हो गया तो अंतिम सफलता तो मिल नहीं रही ना उसमें परंतु इतना आदेश हमें मान्य है सरल बना दी जाए जिसे लोग अच्छे प्रकार से ग्रहण करें रुचि भी हो व्यवहार में भी उसको हम मानते हैं इसको हम निषेध नहीं करते बात समझ में आई नहीं आई हाँ इसलिए हमने हम कहते दोनों भागों को बताओ इतनी इतनी कठिनाइयां हैं इसकी एक फिर का फल बतलाओ ये ये फल है इसके वो भी बतलाओ और ये भी सिखाओ कि हम इन सब कठिनाइयों को सहते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं असंभव कुछ भी नहीं है हम सब कुछ कर सकते हैं परंतु इसको कहते हुए कभी मन में ये नहीं आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मैं ये भी कर सकता हूं और मैं वो भी कर सकता हूं और फिर थोड़ा सा ये क्या जानता है <laughs> ये आ जाए तो क्या होगा <laughs> नहीं आएगा समझ में जब ये उभार आता है ये संकट की घंटी बजती है जब व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि आप ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं समाधि लगा सकते हैं मन इंद्रिय को जीत सकते हैं अच्छा उसमें मिथ्याभिमान ऐसा भयंकर उत्पन्न हो सकता है वो इतना धराशायी हो जाए ये भी भय बराबर बना रहता इसको रोक रोकने के लिए हमको ये विज्ञान अच्छे प्रकार से प्राप्त करना चाहिए कि ईश्वर का और हमारा क्या संबंध है इस सृष्टि के साथ में ईश्वर का क्या संबंध है हमारा क्या संबंध है इन पदार्थों को किसने बनाया मेरी कितनी शक्ति है मैं कितने पदार्थों को बना सकता हूँ आंख नाक को मैं उत्पन्न कर सकता हूँ ये सारा विज्ञान उसको जानना पड़ेगा तब तो इसके अंदर ये अभिमान नहीं आएगा कि मैं कर सकता हूँ मैं इतना करता हूँ ये क्या जाने ये इनको क्या आता जाता नहीं ये सारे रोग पैदा होंगे होंगे नहीं होंगे निश्चित रूपेण होंगे और आप आगे बढ़ ही नहीं सकते बाल्यावस्था से आप ऐसी चीजें सीखते रहे माता पिता सिखाते रहे साथियों में सीखते रहे समाज में सीखते रहे फिर अपने विद्यालयों में सीखते सीखते सीखते सीखते सीखते आपने इतनी बातें इकट्ठी कर ली जो आपके लिए रोड़ा बाधक बनी हुई है और वो आपको इतनी प्रिय लगती है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते जैसे मैं अच्छा हूं ये अच्छा नहीं है किसी गुण को ले लो रूप रंग में ले लो वो सुंदर हूं ये क्या है देखो तो इसकी आकृति के और इसकी विद्या देखो ये क्या जानता है इसको ये आता नहीं वो आता नहीं अब देखो मैंने ये भी कर दिया और मैंने ये भी कर दिया मैं लिखने में भी ठीक हूं पढ़ने में भी ठीक हूँ और बोलने में भी ठीक हूं और देखो ये सेवा मैंने कितनी अच्छी की होता नहीं होता ऐसा बोलो नहीं होता क्या होता है नहीं आपके मन में नहीं हाँ नहीं होता अच्छा जब ये चीजें उभरती रहेंगी तो आप ईश्वर के साथ अपना संबंध उचित संबंध स्थापित नहीं कर सकेंगे तब आप इनको बात अगे नहीं मानते होंगे हो सकता है ये तर्क आप देवे कि वास्तविकता तो है ही मैं इससे पढ़ने में अच्छा हूं अंक अधिक लेता हूं लेख भी मेरा अच्छा वास्तविकता तो है ये आप तर्क दे सकते हैं वहां पर ऐसा होता है और ये विवादक है वहां पर ऐसा अंतिम सत्य के लिए इस बात को रखना कि वास्तविकता वास्तविकता है वास्तविकता जो है वो ईश्वर उसमें मुख्य कारण है हम बड़े गौण कारण है बहुत कम हमारा उसमें बल लगा हुआ सामर्थ्य लगा है उसमें जो हमारे अंदर जो बल विशेष आ गया विद्या विशेष आ गई या ध्यान अवस्था में पहुंच गए एकाग्रता बन गई ये जो बल आया ये ज्ञान विज्ञान आया ये धार्मिकता आई उसमें आप देखेंगे हमारा जो भाग है जीवात्मा का वो आंशिक है वो ईश्वर प्रदत्त है अब जो इस समन्वय को जानता है जो मैं आपको बता रहा हूं वो व्यक्ति निपुण व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा या उचित है उसका व्यवहार ईश्वर के साथ नहीं तो उचित नहीं माना जा सकता आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं साक्षात्कार करना चाहते हैं और ये बाधाएं आपने खड़ी कर रखी हैं जो मैं सुना रहा हूं आपने ही तो खड़ी की है या किसी ने और ने तो नहीं की बोली आपने कर रखी है ना मैं मेरा और ये वस्तुएं मेरी ये खड़ी कर रखी है आप इनको आप छोड़ना नहीं चाहते चपटे रहना चाहते उसमें कारण क्या है ध्यान देना आप वो मेरा कहने से और मालिक बनने से वो संपत्ति हमारे अधिकार में आ जाती है और फिर हम कब उपयोग करते हैं भोग के लिए इत्यादि है यानी कारण क्या समझ में आया दोहरा लो नहीं आई बात समझ में नहीं आई हो तो फिर सुनो फिर दोहराओ समझ के चलना चाहिए क्या समझ में आया मेरा कहते हैं अपना उसके ऊपर अधिकार जमाते हैं उसके मालिक बनते हैं क्यों वो धन संपत्ति साधन हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं मेरे हो जाएंगे तो उसका उचित प्रयोग करेंगे और मेरे नहीं होंगे तो मुझे कुछ साधन नहीं मिलेंगे इसलिए वो मेरे और मालिक बनने की बात सोचता है स्वामी बनने की बात सोचता है एक तो अंश साधया समझ में या नहीं आया एक अंश साधया समझ में अब दूसरा समझिए दूसरा अंश उसमें यह रहता है कि यदि ये मेरे रहेंगे ये धन संपत्ति आदि ये वस्तु जितनी भी है तो लोग मेरा बड़ा सम्मान करेंगे और ये मेरे पास में नहीं होंगे तो मेरा अपमान ही अपमान होता चला जाएगा कोई पूछने वाला नहीं है संसार में है या नहीं ये कारण है जी या नहीं है समझ में आया कारण उसके साथ ये बात भी एक और रहती है इन सुख और सुख साधनों में मेरी तृप्ति हो जाएगी मैं पूरा संतुष्ट हो जाऊंगा ऐसी स्थिति आ जाएगी ये कृत कृत्य हो जाऊंगा इसलिए अगला स्तर इनको छोड़ना और ईश्वर साक्षात्कार की बात मत सोचो ये उसमें रहता नहीं रहता उसमें वो कृत कृत्य अंतिम सफलता हो जाएगी ऐसी मान्यता उसके मन में रहती है या नहीं रहती ये जितने केवल भोगवादी हैं आजकल या अर्थवादी हैं इनका यही तो सिद्धांत और है क्या सबका यही सिद्धांत धन संपत्ति आदि जितना जो कुछ है वो इकट्ठा करके हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां सं, संतुष्ट हो जाएंगे अंतिम सफलता मिलेगी अर्थात सारे दुख छूट जाएंगे नित्य सुख स्थायी सुख मिल जाएगा अथवा एक और विभाग बनेगा इसका ये तो बताया हमने कि वो ऐसा मानने वाले कुछ उसमें से ऐसा भी मानने वाले हो सकते हैं उन्होंने और अधिक विचार किया है गहराई सूक्ष्मता से किया उन्होंने क्या किया हाँ बार बार परमाणु से खंडित है कि अंतिम सफलता कृतकृत्यता नहीं होती उनकी बुद्धि आगे बढ़ी तो वो ये सोचते हैं कि अंतिम सफलता तो जो वैदिक परंपरा सुनी जाती है वो तो इससे नहीं मिलेगी वो यहां तक समझ पाए मेरी बात को समझ रहे हो ये अलग अलग वर्ग बना परंतु इससे अतिरिक्त तो और भी तो कोई उपाय नहीं जिसे सुख मिले दुख मिलेगा तो सुख मिलेगा अब इसको भी छोड़ तो हम खाली हो जाएंगे रहेगा क्या हमारे पास भाई सुख मिलेगा दुख मिश्रित नहीं समझे आप <laughs> आप भी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो <laughs> उसने ये सोचा सुख मिलेगा वो दुख मिश्रित मिलेगा बिना दुख मिश्रित सुख तो कहीं है नहीं तो इसी को भोगो फिर और कोई उपाय है नहीं वो यहां रुक गया दुख मिला हुआ इसमें नित्य भी और इसी को भोगो और कहा जाओ अब वो मिलता है नहीं मिलता ईश्वर साक्षात्कार होता है नहीं होता कौन उसके लिए झंझट है और कब मिलेगा कता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें जितना सुख मिले इतना भोग लो <laughs> क्यों जी आप भी सोचते हो या नहीं आप क्या सोचते हो ऐसी बात सोचते ही नहीं जो मैं बतला रहा हूं एक बात ध्यान देने की है ये जो ये मानता है कहता है कि सुख जो उपलब्ध होता है उसमें दुख मिश्रित रहता है इतना तो भोगना ही चाहिए ऐसा आया आई बात समझ में फिर एक और उहा तर्क कि इस सुख के भोगते भोगते भोगते भोगते अंतिम परिणाम क्या निकलेगा वो देखता है इससे तीसरे वर्ग का व्यक्ति है वो देखता है ये वहां तो संस्कार बन जाते हैं भोग भोगते भोगते क्या समझे आप भोग भोगते भोगते भोग के संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार बन के ऐसे दृढ़ हो जाते हैं वो भोगते रहो जब तृप्ति नहीं एक से एक उभार होता रहेगा संस्कारों में तृप्ति नहीं होगी उसकी वो भोगता रहेगा तब भी तृप्ति नहीं होगी और जिस समय भोगने की शक्ति नहीं रहेगी जीर्ण शीर्ण शरीर आदि हो जाएगा इंद्रियों में उस समय भी उसकी इच्छा क्योंकि दुख देखती रहेगी कुछ समझ में आया ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति आ गया ना कहने लगा हाँ, उसके भोगने से जो आप ये मानते हैं कि सुख की मात्रा बहुत अधिक है तो कम है उसने कहा ये भोगते भोगते भी शांति नहीं है तुम जो भोग रहे हो जितने भोगते जाओगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी जितने भोगते जाओगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी लाभ क्या हुआ इच्छा को दबाने के लिए रोकने के लिए तो भोग थे और इच्छा धुनी बढ़ती जा रही है तो इसका लाभ क्या हुआ आग बढ़ती जा रही है तेल का मिट्टी का तेल डालो या घी डालो इसमें और वो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है डालते जाओ तो इस भोगने से लाभ क्या हुआ तुम्हारे सुख भोगने से समझ में आई बात नहीं आई सुख भोगने से लाभ क्या हुआ अब भी तृप्ति नहीं हो रही है करते जाओ और भोगो और भोगो और उसका फिर आगे बढ़ जाइए आगे बढ़ जाइए जिस समय मन इंद्रिया हमारा शरीर भोग ही नहीं कर सकेगा जीर्ण शीर्ण बूढ़ा हो जाएगा उस समय भी उस बूढ़े की इच्छा ज्यो की तुम भोग भोगने की बनी रहेगी और वो बेचारा भोग नहीं सकेगा अब बताओ क्या करो वही दुख भयंकर हो सकता है आपके मन में ये न जसता हम बूढ़े हो जाएंगे जीवानी में ऐसा होता है प्राय क्या समझे आप आप बताओ होता नहीं होता प्रमाण से मानना पड़ता है उसको कहेंगे बूढ़ कहे कहता हम बूढ़ा नहीं होगा <laughs> वो इस अपनी मूर्खता से बचने के लिए वो नहीं कहता और कुछ को डर लगता है मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा वास्तव में देखा जाए ना विशेष लोगों को छोड़ दो ये जवान व्यक्ति ये नहीं मानता कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा जैसे ये वृद्ध व्यक्ति जैसे महात्मा बुद्ध ने देखा था ये कैसे चल रहा लाठी को ऐसे टेकता टेकता उसके दिमाग में नहीं बैठती बात आपको बताओ किन किन को बैठती हम ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे हाथ पाथ धर के ऐसा हो जाएंगे जस्ती आप जी आपको जस्ती है कभी कभी विचार कर अच्छा हमेशा ये बात हाँ। तो आप ये देखेंगे अब वहां पर हम कहा पहुंचे और ध्यान दो हम यहां पहुंच गए कि ये तृष्णाएं बढ़ती जाती है भोग भोगते जाओ भोगते जाओ आपने अप्रिग्रह के प्रकरण में से ना अर्जन दोष रक्षण दोष और क्षय दोष और संग दोष और उसने ये देखा कि पांच ये बातें हम देख रहे हैं कि इसमें तो पांच दोष है भयंकर और तृष्णा बुझती नहीं है क्या क्या इस सुख को भोग के करना इसमें तो बिना मताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुख में सन विवेक ये तो दुख ही सुख है का वो यहां पर पहुंच गया और यहां पर पहुंच गया तो उसने क्या किया <laughs> भोग भोगने छोड़ दिए क्या समझ में आया आशुतोष जी कह रहे थे हम यहां पर तो पहुंच के देख जाते हैं कहीं कभी दिखता है थोड़ा <laughs> कि भाई हमने असंतुष्टि भी रहती है बहुत अच्छी स्थिति है मैंने कहा यहां मत रुक जाना आप <laughs> ये भी बहुत ऊंची अवस्था है ये जो संतोष का जो फल है ना ये चय काम सुखम लोके ये चय दिव्यम महद सुखम कृष्णाक्षय क्षय सुख एते न अर्त है षोडशीम मैंने कहा ये अवस्था इतनी ऊंची है कि व्यक्ति इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है कुछ नहीं चाहिए बड़ी बड़ा संतोषजनक वातावरण है कुछ नहीं चाहिए और वो जो विषय भोगों में पड़े लोग हैं ना उनको दुखी देख रहा है क्या समझ में आया अपने आप को पूरा सुखी देख रहा है और जो विषय भोगों में तल्लीन है उनको वो वो दुखी देख रहा है अच्छा फिर आशुतोष जी ने सोचा होगा भाई ये स्थिति अंतिम होगी पर याद रखना वो जो आता है ना जय की सद्व्य और कौन है हैं? आवट्टे है क्या है संवाद है ना आपने क्या समझा क्या अनुभव किया इतने लंबे जन्म जन्मांतरों के भोग भोगते भोगते जीवन चल रहा है बताओ तो क्या अनुभव किया उन्होंने कहा कि ये जो संसार में मैंने सुख नाम से चीजें भोगी दुख ही दुख इसमें दिखाई देता उनका इतनी ऊंची स्थिति आपने प्राप्त की संतोष की अवस्था आपने प्राप्त कर ली और ये भी क्या दुखप्रद है क्या तेरे लिए हाँ उन्होंने कहा ये संसार की तृष्णा के विनाश की अपेक्षा से सुख है ये सुख दुख नष्ट हो गया है कैवल्य सुख की अपेक्षा तो ये भी एक प्रकार का त्याज्य ही है अच्छा समय आगे भी बढ़ गया है और आप इनको समझें और प्रयोग करके देखें और स्वयं प्रयोग करना और फिर औरों को प्रशिक्षण देना ये दो कार्य व्यक्ति के सदा बने रहते हैं अब मेरा